लोगों एक मिसाल बयान की जा रही है अब उसे कान लगाकर सुनो तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को दुआ के लिए पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते चाहे इस काम के लिए सब के सब इकट्ठे हो जाएं और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन कर ले जाए तो वो उससे छुड़ा भी नहीं सकते ऐसा दुआ मांगने वाला भी बोदा और जिससे दुआ मांगी जा रही हो वो भी